फरिश्ते अर्ज करेंगे तू पाक है हमारा मालिक तू है न कि ये बल्कि ये जन्नात की इबादत करते थे और इनमें से अक्सर उन पर ईमान रखते थे